है के और चले पराई मैंने भाग पड़े आकाश उसने देवताओं ने देखा कि अरे ये तो सब पागल तो सब भागे जा रहे हैं सब हार गए हैं अब रावण कहीं आकर के हमारे ऊपर प्रहार न करे चल भागो यहाँ कोई बात जय कह यार तो जब वो आई और भागते जा रहे हैं देवता तो कैसे करे अब ये ये नहीं हो सकती रावण मारे मर नहीं सकता और ये समझो कि ये की बानर और ये सब रीत वगैरह सब रावण को जीत लेंगे और कभी विजय हो जाएगी भगवान नाम के हो नहीं सकते हाँ, आका छोड़ो भागो ऐसे करके सबसे सबसे निराश हो करके भाजी चले जा रहे देवता कहते सब सूर्य जीते एक दस अंदर जब एक रावण था तब तो उसने सारे देवताओं को जीत लिया था अब हम्म, कितने देख लो क्या गिनती में कुछ है आप क्या आशा करोगे तुम की ये कुछ ये रावण मारे मरेगा और जीते जीतेगा ये कहा कि अब अब बहु भये कहू गिर अंदर अब तो अगले रावण हो गए चलो भागो को कहीं किसी में पर्वत की गुफा उफा को छोड़ो उसके भीतर छिपो चल करके घुस जाओ जल करके उसमें जहाँ राम रावण हमको धोए न पावे ऐसे कहते हुए देवता लोग भाग खड़े रहे विरंत संभ्रमण ज्ञानी रहे मन खड़े रह गए वो आकाश में कुछ देवता खड़े रह गए जो ज्ञानी देवता ज्ञानी देवता जैसे विरंत ब्रह्मा जी शंभ शंकर जी शंकर जी ब्रह्मा जी जैसे कुछ देवता जो थे वो आकाश में चले रहे युद्ध देखने के लिए आगे और वो <clears throat> जो <clears throat> ज्ञानी लोग थे मुनि लोग थे जो अध्यात्म रहस्य को समझने वाले थे जो भगवान की लीला को समझते थे कि भगवान कैसे हैं कैसे उनकी लीलाएं करते हैं इस बात को समझने वाले देवता लोग कुछ मुख्य मुख्य देवता कटे रहे बातें तो सब भाग करे जिन जिन प्रभु महिमा तक जानी कहते जिन देवताओं को भगवान की कुछ महिमा पता थी कि भगवान कैसी लीलाएं करते हैं हारने की भी लीला करते हैं भगवान कृष्ण के युद्ध में भी देखते हैं इस प्रकार के भगवान रण छोड़ ही नाम उनका पड़ गया दुर्योधन जरासंध आकर के बार बार आक्रमण को ऊपर कर दे और बार बार भगवान जयम सिंह युद्ध का भाग खड़े हो तो इस प्रकार से देखो ये भाग खड़े होने वाली लीला जो है भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं युद्ध छोड़कर रण छोड़ना पड़ गया तो इसी करके यहाँ पर भी भगवान राम जन कितने बार पराजित हो गए उनकी मानव सेना रावण से कितनी बार पराजित हो गए ये तो सब हारे रहे सब राम एक रावण भी था तो ये सब ये सब लीला है इस प्रकार के हारने की भी लीला तो जिन जिन प्रभु महिमा तक जानी ये सब आकाश में जोता हुए लोग कुछ के रहे जाना प्रताप से रहे निर्भय कपिल रिपुमाने पूरे पूरे मन सत्य कहते हैं कि बानरों ने तो सब समझा कि रावण इतने हो गए तो वास्तव में इतने रावण हो पूरे लेकिन जाना प्रताप से रहे निर्भय लेकिन जो शंकर जी जो ब्रह्मा जी जैसे देवता थे जो भगवान की कुछ महिमा जानते थे वे लौटते रहे उन्होंने समझा कि ये तो सब रावण की लीला है वो अपनी माया दिखा रहा है देखो भगवान इसकी माया को खत्म कर देंगे ऐसा विश्वास रख करके वो टिके रहे वो भागे थे कपिल है जो युद्ध क्षेत्र में जो बानर लोग युद्ध कर रहे थे वो बानरों ने समझा कि बस अब बात तो रावण खड़ा हो गया है संख्या इतनी सही होगी यहाँ पर रावण के अनेक होने का भी एक प्रसंग है उसे भी बताना आवश्यक था तुलसीदास जी को या ये जो साहित्य की रचना आध्यात्म साहित्य की रचना करने वाले चाहे वाल्मीकि के हों चाहे अध्यात्मी हो उनको ये बताना है कि देखो हर व्यक्ति अविद्या से घिरा हुआ है हर व्यक्ति मोहजाल में खड़ा हुआ है तो आतंकी मोह कितने हैं समस्त रूप मोह है जो सारे विश्व को अपने बस में किए हुए है और उस मोह ने नाना रूप धारण कर रखे हैं कितने रूप धारण कर रखे हैं जितने प्राणी उतने रूप हर प्राणी के लिए एक मोह रूपी रावण विद्यमान हर प्राणी मोह में पड़ा हुआ है और वो उसी के साथ झगड़ रहा लड़ रहा है उसी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है चल रहा है इस प्रकार से हर जीव का उसके साथ लोग बात क्या समझते हैं कि जो ये मोह है ये मोह बिल्कुल सही है और होना ही चाहिए जब व्यक्ति मोह से ग्रसित होता है तो ये नहीं समझता कि ये मोह तो एक प्रकार की माया जाल है झूठ मूठ में पैदा हो गया ये है नहीं ये हो जाएगा तो क्या तो नहीं हो जाए ये ज्ञान नहीं होता अज्ञान होता है तब तक अज्ञान की अवस्थानों से मोह लगता रहता है मोह में जैसे कोई व्यक्ति समझे कि शरीर मेरा है मैं शरीर हूँ ये परिवार मेरा है ये मकान मेरा है ये सवारियाँ मेरी हैं ये पद मेरा है ये सब क्या है हाँ? अब जिसका है उसे कहो क्या झूठ मूठ की बातों पढ़ो झूठ मूठ कहते ये मेरा परिवार नहीं तो किसका परिवार है झगड़ा करने में तैयार हो जाए जवाब नहीं दे सकते उसको मेरे पुत्र पुत्र नहीं रखे तो क्या परवाह ये आपका मकान है बिल्कुल मेरा मकान है अरे साहब ये तो बहुत दिनों से पहले यानी किसका था उसके पहले किसका था उसके पहले आप कह रहे मेरा है हाँ बिल्कुल मेरा मेरी रस्ती आज तक मेरे पास देखो हाँ? माने बड़े सब लोग ऐसे सबसे मानते सब जितना चाहिए सबका सब जितनी है ये है ये मोह जाल जितना ये सब झूठा है माया में है इसी के लिए तो सारे और सारे संत महात्मा और सब भगवान और ये सब लीलाए सब उनकी सब ये है कि आपको समझ में आ जाए सब झूठा है माया में मिथ्या है जो लोग इसे मिथ्या कहते हैं वो भी कहीं न कहीं अपने हृदय में थोड़ा बहुत सब समझते हैं के मोह में इसमें ग्रसित है वे लोग तो कहेंगे वो तो है ही है यहाँ पर ये तो मोह है तो क्या माया है तो क्या हम्म। ये तो होनी चाहिए ये तो होता ही है कहा नहीं होता कैसे नहीं होता होने में क्या हाथ है हम बात है बहुत बात इस प्रकार के इस माया को भी भगवान के ऊपर आरोपित कर दें है अरे शादी भगवान की महिमा है क्यों अनादर करो माया किसकी है क्या है भगवान की है अगर भगवान की माया तो प्रसाद है ये इसका अनादर करने के लिए भगवान ने हमको ये माया दी बहुत अच्छी थी उन्होंने तो कहीं न कहीं बुद्धि इस प्रकार से अटकती है लिए जब इसके ऊपर धीरे धीरे करके विचार करते करते करते करते करते करते चिंतन करते करते धीरे धीरे करके ये आवरण हटता है ये माया का आवरण जैसे सूर्य के ऊपर आकाश गिरा हो तो भगवान की कृपा से ही भगवान की चिंतन ध्यान करने से ही उन्हीं की सेवा में लगे रहने से उन्हीं के कारण में जाने से फिर इस प्रकार से कहना चाहिए भगवान की कृपा से ही हटता है किसी व्यक्ति की मन की कृपा से ये मोह नहीं हट सकता किसी की बुद्धि की कृपा से ये मोह नहीं हट सकता ये जब मोह या माया का जाल हटता है तो भगवान की कृपा से हटता है इसलिए आगे देखो कथा पसंद क्या चलता है तो चले विकल कट भालू सकल कृपाल उपाधि भया तुरे तो ये सब जैसे भालू और पारस थे ये सब भाग चले तो ये भाग करे और सब चिल्लाते हैं भय आतरे मैंने भय से जाकुल भाग रहे हैं सबसे सब मारा भालू और क्या करते हैं कृपाल उपाधि सब कहते हैं भगवान कृपा धान भगवान हम आपकी शरण में है बचाओ बचाओ इस प्रकार के से तो हनुमंत अंगद लीन नर अति बल शरण बापुरे हनुमान अंगद नलनी तो ये बड़े बलवान थे और ये अपने जो मैंने हजारों रावण हो गए तो भी इनको एक ही रावण मिल गया तो जिस रावण से युद्ध कर रहे हैं उसे बड़े लड़ रहे युद्ध हो रहा उनका और मर गई दसान कोटि कोटे न कपट भूपट अंकुरे और ये ये सब लोग जितने हनुमान इत्यादि हैं वो जो रावण सामने आता है उसे लड़ते हैं और लड़ते हैं उठा करके दब दबक देते हैं और मार डालते हैं मसल देते हैं रावण मर गया लेकिन देखते हैं दूसरा रावण तैयार है दूसरे रावण से फिर युद्ध करते हैं उसको फिर मारते हैं वो मर जाता इनको ये दिखाई देता है सब मानवों को हनुमान आदि को की हमने नजन के रावण मार डाले ये माँ डालते हैं तो क्या होता है कि माया रूपी भूमि में जैसे कि भूमि में अंकुर निकला है अब देखो जमीन पड़ी हुई है आप एक तरफ से इतना बड़ी जमीन पड़ी हुई है आप एक तरफ से जितनी घास जम रही है आप जरा काटना शुरू करो और जब तक काट काट करके वहां तक जाओगे तो पीछे क्या देता हूँ जितनी काट काटे उतनी बड़ी है कि नहीं है कभी खत्म कर सकते हो घास आप भूमि में उनको एक तरफ घास काटते जाओ दूसरी तो तरफ घास उगती जाती है इसी प्रकार से ये माया रूपी भूमि में ये रावण रूपी निकाकर पैदा होते चले ये उदाहरण मैंने कितने रावण को मार डाला इन लोगों ने अंदर से हनुमान ने लग ली ये माया भी रावणों को सबको मार डाला और तमाम पैदा हो गया ऐसा ही हो रहा है सुर बानर देखे विकल हटे कौशलाधीश जब देखा कि मानव और भालू सब बहुत व्याकुल है रावण जब हजारों इस प्रकार से हो गया है तो हंसे कौशला भी तो भगवान राम को हंसी आई तो देखो इनकी ये दशा हो और तो रावण क्या लीला कर रहा कितने कितने लोग कितने धारण करते तो सज सारंग ये कसर हंसे सकल तो भगवान ने धनुष उठाया बाण चढ़ाया एक बाण मारा तो कितने अगले बानर कोटियों कोटियों जो ब्राह्मण हो गए तीर्थ क्षेत्र में उन सबसे भगवान का एक बाण लगा तो सब मान सब ब्राह्मण बन गए समाप्त साज सार सज सारंग एक सर सज के माने धनुष को समारा ठीक किया उसके ऊपर बाण रखा और जैसे एक बाण मारा एक सर हसे सकल दस्ती जितने इकट्ठे थे जितने जितने थे राम रावण सारे दस्ती रावण सब एक ही बाण में मर गए अब देखो इनके बाणों के मारे मरते नहीं है ये मारे मारते हैं तो फिर पैदा हो जाते हैं भगवान ने इतने अग्नि जितने रावण हो गए सबका संघार एक बात आखिरकार में जो एक रावण है वो भी उसको किससे मरेगा भगवान राम ही मारेंगे आगे चक्कर करके वो भी देखो तो कदा बार बार सुनते रहते हैं मालूम ही है कि कोई बांधो के इनके सबके मारे से थोड़ी कोई रावण मरने वाला है आखिर भगवान ही मारेंगे उस रावण को एक रावण और जो अगले रावण हो गए तो उनको भी भगवान नहीं मारा खत्म हो गए जब रावण की अग्रत हो गए फिर एक रावण रह गया अब एक रावण का तो फिर दो सा होने रह गया आगे भी कुछ प्रवचन प्रभु चन माया सब रवि हुए जाई कम फाटे रामन एक देख सुर हर से तेरे सुमन बहु प्रभु पर पर से भुज उठाए रघुपति कपि फेरे के सब तेरे प्रभ बल पाय भानु कपिधाए सरल समत संयुग मई भाय आए अद्भुत करत देव तन देखे भयो एक महीन के ले गए सदा तुम मोर मरायल अस कही को गगन पर घायल पर घायल हा तार करत सुर भागे कलहु जाओ का मोरे आगे देखी विकल सुर अंगद धायो कूद चरण गए भूमि गिरायो गई भूम पायो लात मारियो बाल सुत प्रभु कहीं गयो संभारी उठ दस कंठ घोर कठोर रव गरजत भयो करिताप चाप चढ़ाई दस संधान सर बहु बरसई के सकल भटकायल भयाकुल देख निज बल हर सही तब रघुपति रामन के शीस बुझा सर चाप काटे बहुत बड़े पुनी जिम तीरथ कर पाप आवरण चंद्रजी जय पवन जय भाई सब संतन की जय माया सब काटी भगवान ने वो सब माया रावण की तमाम रावण की माया क्या अग्नि रावण हो गया था भगवान ने सब माया उसने प्रति कर दी जिम्मे रवि हुए जाए दम खाटी जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है बस ऐसी करके रावण की माया मिट गई मन ये माया जो है अंधकार के समान है और भगवान राम जो सूर्य के समान है एक सत्य है और एक मिथ्या है मिथ्या जो है वो निगेटिविटी सत्य जो है वो एग्जिस्ट करता है एग्जिस्टेंस उसकी पॉजिटिव की और जो मिथ्या है वो उसका निगेशन इसके ऊपर जो है वो बेराम ने तो विचार किए ही हुए तमाम शास्त्र तमाम पाओ उसमें सब नाना प्रकार इस बात को समझाया गया बताया गया तमाम तरह की तरफ बहुत मिलेंगे आपको लेकिन इसके संबंध में विचार करने के लिए पश्चिमी साहित्य भी बहुत उपलब्ध है पश्चिम के बहुत से दार्शनिकों ने इसके ऊपर ग्रंथ लिखे बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखे मैंने बहुत विचार किया उन्होंने जो विचार किया है सब रिकॉर्ड किए सब लिखे किसी ने पुस्तक लिखी है बींग एंड नथिंग पुस्तक का नाम है बीइंग एंड नथिंग है दो हजार तेईस के पुस्तक बात क्या बीइंग है नथिंग है बीइंग के बारे एडजस्ट करके नथिंग है अब दोनों का संबंध क्या है हम्म? वो देखो एक पुस्तक का नाम है ट्रुथ एंड अपियरेंस समझा क्या है वही बात ट्रस्ट जो है वो बी और नथिंग जैसे अपियरेंस दूसरे लेखक ने लिखा के नाम पर एक लेखक ने लिखा इसके ऊपर तो वो कहता है कि दो प्रकार की इस प्रकार की स्थितियां हैं एक तो एस बी सी और एस बी आर विभाजन किया एक कलिकत कांत है एक कलिकत ब्रजले है एक और एक लेखक है फ्रांस का एक लेखक है उसका है बींग एंड नथिंगनेस उसका शास्त्र तीन पाल शास्त्र नोबल पुरस्कार मिला है उसका एक लेखक है ये लेखक सब दिलचस्प से सारा जीवन इसी में लगा दिया उन पुस्तकों के लिखने में विचार करने में तो ये सब इन पुस्तकों को भी आप देखो पढ़ो तो पता लगे कि ये केवल ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृत में हिंदुओं के बीच में ये वेदांत वेदांत की खाम खाक उड़ान उड़ रही है ऐसा नहीं इसके पीछे जो सत्य है गहराई में समझने के लिए ये सब उपयोगी ग्रंथ ये पढ़ने चाहिए लाभदायक तो रावण एक के सुर हर से जब रावण एक रह गया सब रावण समाप्त हो गए सब देवता प्रसन्न हो गए जो भाग रहे थे देवता लौट आए और खुश हुए कि चलो रावण खत्म हो गए एक रह गया और फिर सुमन के ऊपर बरसे और वो देवताओं ने आकर फूल दिए रहते हैं देवता लोग भगवान राम के ऊपर वो अपने फूलों की वर्षा करने लगे माने भगवान को साधुवाद देने लगे उनकी कार बोलने लगे वो जो उठाए रघुपति कभी फेरे भगवान ने अपने बाल उठा करके सब जो बानर बाल उठा रहे थे अगले सब रावणों को देख करके भगवान ने फिर उनको इकट्ठा किया भागे हुए बानरों खड़ों को बुलाया सब इकट्ठे होकर के फिर करने लगे फिर एक एक सब तेरे जिन लोगों की आवाज भगवान राम के पास जिनके पास तक पहुंची वे लोग तो फिरे ही लेकिन उनके आगे और जो भागे जा रहे थे उनको भी उन्होंने आवाज दिया लौटाओ उन्होंने फिर पीछे वाले और उनको आवाज भी लौटाओ जैसे दूर दूर तक के जितने थे वो सबने सबने एक दूसरे को मिलाकर इकट्ठा किया सब युद्ध क्षेत्र में फिर आए प्रभु पद पाए भानु कभी खाए भगवान जी के पा करके बारह भानु फिर रावण को आक्रमण करने लगे और तरह समझ संयुग में खाए और वे सब लोग <clears throat> मैंने क्रोध करके बड़ी जोश लगा करके ये सब बानर भालू फिर रावण युद्ध करने लगे अस्तुत कर देवता ने देखे रावण ने देखा कि आकाश में ये देवता लोग तो भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं <laughs> तो रावण को बड़ा खराब लगा हम्म? अब नाराज हुआ देवताओं को कहता भयो कि मैं इनके देखे ये उनको रावण कहता ये सब देवता लोग ये समझते हैं कि मैं एक रह गया हम्म? अभी तक ये समझ रहे थे कि मैं अगर था अभी मैं एक रह गया अरे मैं एक नहीं रह गया हम मैं दिखाऊंगा सब अपना कमाल क्या करता हूँ और उनको फिर उन, उनको एक प्रकार से गालियां देता है देवताओं को रावण कहता है सदैव सदा तो मोर मराए अरे सच लोग तुम लोग जब सदा मार खाते रहे हमारी लाते घुसे खाते रहे अब तुम जय जयकार बोल रहे हो भगवान नाम ऐसे कहीं को भी जगन कर घायल ऐसे करके रावण देवताओं से मारने के लिए चल दिया था और जब देवताओं ने देखा युद्ध छोड़ करके रावण आ रहा हमारे तब देवता फिर मार आकार कर भागे देवता लोग हाकार करते हुए आकार का भाग करो देखा रावण तो कैसा है देवताओं से भी बढ़ जाए ऐसे बांधों से भी बढ़ जाए हनुमान इत्यादि से भी लड़ जाए भगवान राम से भी लड़ जाए और सब इतने चारों तरफ है लेकिन वो अकेले सब कुछ छकाए आकार कर भागे और खड़ो जाओ काम हो रहे आगे और कहते रहे तो तुम कहाँ भागे जाते हो हमको हमसे बच करके तो नहीं जा सकते तुम्हें ठिकाने लगा दे देव विकल पर अंगत धायो जब देखा जब देवता लोग व्याकुल होकर के भाग रहे हैं तो अंगत दौड़े रावण के पीछे के अंगत से जब अंगत लड़ा लड़ने लगे जब रावण थे तो रावण का ध्यान देवताओं पर जाते तो पूरी चरण पर जय घूम गिरायो तो अंदर दौड़े और आकाश में जब रावण दौड़ा जा रहा था देवताओं की तरह तो अंदर कूद करके रावण के पैर पकड़ लिए और लेकर के जमीन में पटक दिया तो रावण पर जमीन पर आ गया और देवता लोग बचे उनका पीछा करना रावण ने छोड़ा कई घूम पाजो लाभ मारियो बाल सुख प्रभु पहन गयो इस प्रकार से अंजन का और हनुमान का रावण का युद्ध हुआ उसको पंडित ने पैर पकड़ कर जमीन पकड़ दिया मारा पीटा उसको ताते वाते मारी उठा उठा मारे इस प्रकार से कर करा करके रावण को और उसके बाद अंगद फिर वहाँ से फिर लौट आया संभाष सकंज कठोर रव गर्जित भयो और फिर उसने जो वो रावण जो अंगद की मार खा करके जो गिर पड़ा था तो फिर उसने अपने आप को संभाला संभाल करके फिर उठा और फिर उसने गर्जना कहा जा जाओ समझते हमारे हमारे नहीं है चाप करना करता हुआ फिर लड़ने को तैयार हो गया तो कल चाप चाप चढ़ाए तो संधान तरफ ऊपर सही है रावण ने फिर जो है अब पांडव भानु कोई पास नहीं है तो उसने क्या किया धनुष उठाया बांध उठाए लेकर के चढ़ा करके दसों हाथों से दस दस बाण एक साथ में वो फेंकने लगा मारने लगा और बानरों को घायल करने लगा ये सकल बट घायल भयाकुल देखने हर शरीर और उसने सब बानरों को घायल कर दिया बाण मार मार करके और सब बानर जब घायल हो गए तब रावण बड़ा प्रसन्न हुआ राज देखकर लगा रावण की विजय प्रकार सब रघुपति रावण के शीत भुजा सरसाप तो भगवान का अब तक भगवान ने की जैसा जब कलयुग हुआ तो भगवान के माना खचित हो गए थे पांच मुझे लगी थी भगवान राम के सिर लगी थी उसके बाद जो उनको बेहोशी आई थी या दुर्बलता आई थी थकान लगी थी उससे स्वस्थ हो गए अब फिर युद्ध करने लगे उन्होंने अपना धनुष उठाया रावण के ऊपर से बाणों का प्रहार करने लगे तब क्या होने लगा रावण की बाहें कटने लगी रावण के सिर कटने लगे जैसे पहले कट रहे थे तो कट कट करके और हवा जाते थे नए नए जमाते थे उस प्रकार से रावण के सिर बाहें कटने लगी ये बताते तब रघुपति राम ने की तीस भुजा सर चाप काटे बहुत ये सब उनके सब काटे रावण के धनुष काट दिए बाण काट दिए बाहें काट दिए सिर काट दिए ये सब भगवान ने कहा बहु बाणे कुछ लेकिन वे फिर बार बार बढ़ते जाते हैं जिन तीर्थ कर पाप ये कैसे बढ़ते जाते हैं जैसे तीर्थ के पाप बढ़ते अभी एक एक उदाहरण देते जाते हैं कई बार इस प्रकार के रावण चित्र कैसे करते हैं बार बार ये बात आती है एक में एक उदाहरण देते हैं इसे कई उदाहरण दिए जैसे विषय जो है वो सेवन करने से बढ़ते रहते हैं हम्म? जैसे विषय लोगों की कामना कैसे बढ़ती है जैसे सब भोगो जैसे सबकी कामना बढ़ती जाएगी समाज समाज पड़ेगा ऐसे यहाँ एक उदाहरण देते हैं कहते हैं कि देखो यदि कोई तीर्थ स्थल में पाप करता है तो उसके पाप सैकड़ों गुना हजारों गुने पाप हो जाता है तीर्थ में किया हुआ पुण्य सैकड़ों गुना हो जाता है तीर्थ में किया हुआ पाप सैकड़ों गुना हो जाता है वही पाप व्यक्ति अन्यत्र करे तो पाप एक पाप का एक पाप लेकिन तीर्थ में करे तो हजार गुना यानी कारण पाप कर्म व्यक्ति कहीं क्षिप करके करे तो करके करे तो पाप का फल तो है ही है उसको उसका परिणाम दुष्परिणाम होगा लेकिन कोई व्यक्ति इतना ज्यादा बेहरम हो जाए कि वही पाप कर्म खुले आम करे हम्म? तो आप क्या समझते अब उसका पाप का फल सौ गुना हो गया हजार गुना हो गया अपने माता पिता के सामने वही पाप कर्म करे हजार गुना हो वही गुरु के सामने वही पाप कर्म करे लाखों गुना हो वही भगवान के सामने जाकर के मंदिर में भगवान के सामने जाकर के वही पाप कर्म करे और इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति इन पापों को करता है तो पाप कैसे बढ़ते हैं इसी बात बताते हैं माने कोई व्यक्ति जैसे कि बेशरम होकर के पाप कर्म करने लगता है तो फिर वो पाप कर्म उससे छूटते नहीं और उनका फल बराबर उनको दुख में रहा उसका फल मिलता जाता है गलती से जैसे पाप कर्म हो गया उससे तो, तो उसका प्रायश्चित है छुटकारा भी हो सकता है लेकिन जो जानबूझ करके पाप कर्म करे और बेशरम होकर के पाप कर्म करे तो उसका छुटकारा था न उसका कोई प्रायश्चित करेगा वो और न उससे छुटकारा उसका होगा बढ़ते बढ़ते चले गए इसलिए व्यक्ति को पाप के संबंध में एक सिद्धांत दिए भी अनेक बातें पाप के संबंध में एक वहाँ पर भी है कि काटे बहुत बड़े पुण्य जिन तीर्थ कर पाप तीर्थ स्थल में तो आप इसलिए गए कि वहाँ जाओ तो आपके पाप कटे हम्म? वहाँ पर गंगा जी का स्नान करो मंदिरों में भगवान के दर्शन करो साधु संतों का संगत करो सत्संग करो इसलिए जाओ तो पाप कटे और वहीं जाकर के ऐसे सबके बीच में वहां पर पाप करने लगे कोई व्यक्ति तो आप उसके पास कहाँ कटेंगे और कहा जाए उसके पास कटेंगे वो तो कई गुना हो जाएंगे इस प्रकार से आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके युद्ध जो है छठवें दिन का युद्ध समाप्त होने आ रहा है अब इसके बाद फिर जो वो सातवें दिन का शुरू होगा नान्याहारूपते हृदय समधिये सत्यम बदाम च भवान अखिलात्मा भक्तिम प्रयत्न रूपम गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितम् गुरुमान संत श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम